जो भूमिका और जो पात्र था बनाने को कहा है उस भूमिका के अंतिम तीन चरण आज मैं आपसे कहने को उसके पहले एक छोटी सी कहानी एक बहुत पुरानी कथा है एक सम्राट का बड़ा वजीर मर गया था उस राज्य का यह नियम था कि बड़े वजीर की खोज साधारण नहीं बहुत कठिन थी देश के सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी को ही वजीर बनाया जाता क्षण में लग गए बुद्धिमान आदमी की खोज में बहुत सी परीक्षाएं हुई बहुत सी प्रतियोगिताएं हुई बहुत सी प्रतिस्पर्धाएं हुई और फिर अंतिम रूप से तीन आदमी चुने गए उन तीनों को राजधानी बुलाया गया कि देश के सबसे बुद्धिमान लोग थे फिर अंतिम परीक्षा हुई और उसमें से एक व्यक्ति चुना गया और वो देश का वजीर बना तो उस अंतिम परीक्षा के संबंध में थोड़ी बात मुझे कहनी है उन तीनों ने भी सोचा होगा कि अंतिम परीक्षा बहुत कठिन होगी वे तीनों ही डरे हुए और घबराए हुए थे तो जब रात पहुंचे तो कोशिश की कि अगर पता चल जाए कि परीक्षा क्या है तो शायद हम तैयारी कर लें जैसा तो सभी विद्यार्थी करते हैं परीक्षा के पहले पता लगा लेना चाहते हैं तैयारी कर रहे परीक्षा क्या है तो जिन्होंने भी कोशिश की कोई आजकल के विद्यार्थी समझदार हो गए ऐसा नहीं पहले के लोग भी इतने ही समझदार लेकिन राजधानी पहुंच के उनको पता चला कि पता लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पूरी राजधानी को पता हो गया है कि परीक्षा क्या है गांव भर में खबर थी हर आदमी कह रहा था कि कल परीक्षा क्या होगी ये सुन के वो और घबरा गए परीक्षा पता न होती तो भी ठीक था परीक्षा ये होने को थी कि सम्राट ने एक भवन बनवाया हुआ था उस भवन में एक ही द्वार था और उस द्वार पर उसने देश के बड़े बड़े गणितज्ञों और इंजीनियरों को बुलवाकर एक ऐसा ताला लगवाया था जिसकी कोई चाबी नहीं थी और उस ताले को खोलने की तरकीब तो थी लेकिन कोई चाबी नहीं थी कोई कुंजी नहीं थी उस ताले के ऊपर गणित के अंक लिखे हुए थे और एक गणित की पहेली थी जो उस पहेली को हल कर सकेगा उससे वो ताला खुल जाएगा बाकी किसी से वो ताला नहीं खुल सकता गांव भर में खबर थी कि कल उन तीनों बुद्धिमान लोगों को महल के भीतर बंद कर दिया जाए और उनसे कहा जाएगा कि इस ताले को खोल के जो सबसे पहले बाहर आ जाएगा वही बची होगा उन तीनों ने क्या किया है उनमें से एक तो जाके तत्क्षण अपने घर सो गए तो दो बाजार की तरफ आगे तालों के संबंध में पहेलियों के संबंध में गणित के संबंध में जो भी किताबें मिल सकती थी उनको इकट्ठा कर लाए और उन तीनों लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया उनको दोनों ने पढ़ना शुरू कर दिया तीसरा सोया देखकर उन्होंने समझा कि मालूम होता है इसने हिम्मत खो दी इसने ड्राफ्ट ले लिया ये परीक्षा नहीं देगा वो दोनों रात भर तैयारी करते रहे अब न तो वे चोर थे कि उन्हें ताले खोलने की तरकीब पता और न भी कोई इंजीनियर थे कि उन्हें ताले बनाने का कोई पता रात भर पढ़ने को परिणाम ये हुआ कि जितना वो शाम को जानते थे सुबह उससे बहुत कम जानते थे अगर सुबह उनसे कोई पूछता और दो और दो तो कितने होते तो शायद वे उत्तर नहीं दे सकते तो जैसा कि परीक्षा की सुबह सभी परीक्षार्थियों की हालत हो जाए तो उनकी हालत होती जो आदमी रात भर सोया रहा था जबकि दोनों परीक्षा के भवन की तरफ जाने लगे तो वो भी उठा और उनके पीछे हो गया गीत गाता हुआ उन दोनों को बहुत हैरानी हुई उन्होंने सोचा कि शायद ये पागल हो गया रात भर सोया और सुबह गीत गाता और परीक्षा में जा फिर वे तीनों पहुंचे अफवाह सच थी सम्राट ने उन्हें नरक के भीतर बंद किया और कहा कि दरवाजे पर जो ताला लगा है ये गणित की एक पहली और जो इसे हल कर लेगा और खोल लेगा वो बाहर आ जाएगा वो तो सम्राट का वजीर हो जाएगा आप तीनों अंदर हो जाए मैं बाहर प्रतीक्षा कर सम्राट द्वार लगा के बाहर जाके प्रतीक्षा करें वे दोनों आदमी अपने कपड़ों के भीतर किताबें छिपा लाए थे जैसे ही सम्राट बाहर गया उन्होंने किताबें निकाली और पहली हल करने की कोशिश में लग लेकिन वो तीसरा आदमी जो रात भर सोया रहा था फिर आंख बंद करके कोने में सो गया वे दोनों बहुत हैरान थे कि इसको क्या हो गया वे दोनों अपना हल खोजते रहे पहलियों में उलटते चले गए उलटते चले गए वो आदमी अचानक उठा द्वार पर गए उसने द्वार ढका के देखा द्वार बंद नहीं था अटका हुआ वो बाहर निकल गया वे दोनों हल करने में लग रहे उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका साथी बाहर हो गया उन्हें तो पता चला जब सम्राट ने आके कहा कि बंद करो अपनी किताब जिसको निकलना था वो बाहर निकल गया है वे दोनों तो बहुत चक्के रहते हैं उन्होंने कहा ये आदमी बाहर निकल गया ये तो बंद किए बैठा ये कैसे बाहर निकला सम्राट ने कहा इस आदमी ने बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा सबूत दिया इसने पहले ये देखने की कोशिश की कि दरवाजा बंद है या खुला है बंद हो तो खोलने की कोशिश की जाए खुला हो तो खोलने की क्या जरूरत इसने पहले ये देखने की कोशिश की कि कोई समस्या भी है या नहीं समस्या हो तो समाधान खो जाए और समस्या ना हो तो समाधान कैसे हो जाए सबसे कठिन समाधान वे होते हैं जो उन समस्याओं के लिए खोज जाते हैं जो कि समस्याएं ही नहीं जो द्वार बंद ही नहीं है उसे खोलने की सब कोष से असफल हो जाने को पहले से ही निश्चय है परमात्मा का द्वार बंद नहीं है जो लोग भी उसे खोलने की कोशिश करते हैं वे असफल हो जाते परमात्मा का द्वार खुला हुआ है लेकिन द्वार खुला हुआ है इसका बोझ भी केवल उन्हीं को उपलब्ध होता है जो अत्यंत शांत और मौन होकर बैठने में समर्थ है तो वो आदमी सोया हुआ नहीं था तो वो आदमी मौन और शांत रहते जब समस्या सामने हो तो सबसे बड़ा समाधान यह है कि समस्या का साक्षात्कार कोई शांति और मौन से कर सके समस्या को जो सोच के हल करने की कोशिश करता है वो और उलझता चला जाता है वो समस्या को हल नहीं कर पा रहा है समस्या के हल के लिए पहली जरूरत है कि कोई मौन शांति को उपलब्ध हो जाए तो उस शांति में ही वो द्वार वो दिशा दिखाई पड़ जाती है जहां समाधान है और जहां समस्या नहीं वो आदमी ऊपर से दिखाई पड़ता था कि कोई उपाय नहीं कर रहा है वही आदमी ठीक उपाय कर रहा था वे दो लोग जो उपाय करते हुए प्रतीत हो रहे थे वे कोई उपाय नहीं कर रहे थे वे और उलझते जा रहे थे वे और अपने ही जाल में पड़ते जा रहे थे वो सम्राट बड़ा अद्भुत सम्राट रहा होगा उसने जो समस्या खोजी वो बड़ी अद्भुत थी परमात्मा और भी अद्भुत है उसने भी जो मनुष्य के सामने समस्या रख दी है वो वो भी बहुत अद्भुत है वो इतनी सरल है कि जिनके मन जटिल हैं वे उसे नहीं खोल पाते हैं और जिनके मन सरल है वे उसे खोल देते हैं कि ये सरलता ये मौन ये शांति कैसे उपलब्ध हो कि प्रभु का द्वार खुल जाए उसके तीन सूत्रों पर अंतिम तीन सूत्रों पर मुझे आपसे बात करें पहला सूत्र असीम का बोध मनुष्य के चारों तरफ एक असीम जगत है लेकिन हमें उस असीम का उस लिमिटलेसनेस का कोई बोध नहीं हम अपनी ही सीमाओं में बंधे हुए जीते और जो आदमी जितनी सीमाओं में बंधा हुआ होता है उतना ही क्षुद्र उतना ही जटिल हो जाता है और जो आदमी असीम के बोध को जितना उपलब्ध होता है उतना ही विराट उतना ही सरल हो जाता है क्षुद्रता और कठिनता एक ही साथ उपलब्ध होती है सरलता और असीमता एक ही साथ उपलब्ध होती है छोटे छोटे झरने बहुत शोरगुल करते हैं जितना विराट सागर हो उतना ही मौन सन्नाटे में डूब जाता है बर्तन खाली हो तो आवाज थोड़ा भरा हो तो आवाज करता है पूरा भर जाए तो मौन हो जाता है मनुष्य जब तक अपनी सीमाओं में छोटा बना है क्षुद्र बना है तब तक उसके जीवन में शांति असंभव है शांति असीम का लक्षण है अशांति सीमित का लक्षण है अशांति होती ही सीमा के कारण है जहां सीमा आ जाती वही चित्त अशांत हो जाता है जहां दीवार आ जाती वही चित्त अशांत हो जाता है जहां कोई अड़चन खड़ी हो जाती वही चित्त अशांत हो जाता है हमारी सारी अशांति एक कारागृह में कैदी बंद होता है उसकी अशांति क्या होती है आपको पता है उसको भोजन नहीं मिलता उसको भोजन मिलता है उसको सोने नहीं मिलता उसको सोने भी मिलता है और ये भी हो सकता है कि घर से अच्छा भोजन मिलता हो घर से अच्छा सोने को मिलता हो लेकिन अशांति क्या हो जाती है उसे अशांति एक हो जाती जहां भी जाता है दीवार मिल जाती द्वार कहीं भी नहीं मिलता जहां भी जाता है बंधन मिल जाते हैं जहां भी जाता है सीमा आ जाती है असीम के साथ कोई सम्मिलन नहीं होगा कैदी की पीड़ा क्या है कैदी की पीड़ा सीमा है मुक्त व्यक्ति का आनंद क्या है मुक्त व्यक्ति का आनंद सीमा का अभाव लेकिन जो लोग कारागृहों में बंद होते हैं वे ही कैदी नहीं है हम सब भी कैदी हैं फर्क इतना है कि वे दूसरों के बनाए कारागृहों में बंद होते हैं हम अपने बनाए कारागृह और प्रभु मिलन की जिसके मन में प्यास पैदा हो गई हो उसे सब तरह के कारण तरह तोड़ देने होते हैं और सब जंजीरें गिरा देनी होती हमारी सीमाएं हमने निर्मित कर ली है कोई कहता है मैं हिंदू हूं उसने इतनी बड़ी मनुष्य जाति से नाता तोड़ दिया अब वो हिंदू गया फिर वो हिंदू भी कहता है मैं वैष्णव हूं उसने हिंदू से भी नाता तोड़ दिया अब वो सिर्फ वैष्णव रह गया वो बचपनों में कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं या पला हूं या भिका हूं उसने और नाता तोड़ दिया फिर वो ब्राह्मण भी कहता है मैं गुजराती हूं मैं मराठी नहीं उसने और नाता तोड़ दिया वो और छोटे में सीमित हो गया और छोटे में सीमित होते होते आखिर में वो अकेला अहंकार रह जाता है कि मैं हूं और मैं कोई नहीं हूं और तब वो क्षुद्रतम कारागृह में बंद हो जाता है मनुष्य अपने ऊपर जो भी सीमाएं थोपता है वे सभी सीमाएं उसे परमात्मा से दूर करने वाली सिद्ध होती है परमात्मा की दिशा में जिसे जाना है उसे सभी सीमाएं तोड़ देनी हो उसे सब विशेषण गिरा देने हो उसे सारे द्वार खोल देने होंगे सब दीवारें गिरा देनी होंगी तो ही व्यक्ति असीम को उपलब्ध हो सकता है एक सम्राट ने अपनी पचासवीं वर्षगांठ मनाई उसने देश के सौ बड़े विद्वानों को बुद्धिमानों को बुलाया भोजन पर उन सबको भोजन कराए गए उनकी सेवा सत्कार किया गया और जब वे विदा लेने लगे तो सम्राट ने कहा कि दक्षिणा भी मैं देना चाहता हूं लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ भी दूंगा तो कहीं वो आपके योग ना हुआ कहीं वो आपसे छोटा पड़ गया तो इसलिए फिर मैं खुद देने के लिए तैयार नहीं हूं मैं आपसे ही कहता हूं कि मेरे भवन के पीछे जो विराट राज्य की भूमि है उस भूमि में से जितनी आप जो लेना चाहे ले ले जितनी जो लेना चाहे एक ही शर्त है कि उस जमीन पर जो जितना बड़ा घेरा बना लेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी जितना बड़ा घेरा जो बना लेगा उतना ही जमीन उसकी हो जाएगी वे सौ आदमी तो पागल हो गए वे सौ ही ब्राह्मण वे सौ ही बुद्धिमान तो पागल हो गए कि जितना घेरा बनाएंगे उतनी जमीन वो राज्य की सबसे बहुमूल्य जमीन थी वो राजा की अपनी जमीन थी उसकी कीमत का कोई हिसाब न था और सिर्फ घेरा बनाने के मूल्य पर वो मिलती थी वो गए उन्होंने अपने मकान बेच दिए अपनी जमीनें बेच दी अपने जेवर बेच दिए उन्होंने अपने कपड़े तक बेच दिए कि एक दफा बेच दो सब जमीन घेर लो फिर जमीन बेच के बहुत कुछ उपलब्ध हो जाएगा फिर वे सौ ही पागल की तरह लग गए और उन्होंने जमीन पर बड़े से बड़े घेरे बना लिए आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितने घेरे बनाए होंगे अगर आप भी उनकी जगह होते तो कितना बड़ा घेरा बना वो कितनी मुश्किल में पड़ गए छह महीने का केवल वक्त मिला था उनको और छह महीने में घेरा बनाना छह महीने बीतते बीतते वे बड़े दिनहीन हो गए भूखे रहने लगे सारे बड़े बड़े घेरे बना लिए और उस राजा ने और आखिरी पागलपन पैदा करवा दिया उसने तीन महीने बाद कहा कि एक बात और तुम्हें बता दूं जो सबसे बड़ा घेरा बना लेगा उसको मैं राजगुरु के पद पर स्थापित कर दूंगा अब दोहरा मोह पकड़ गया छह महीने पूरे होने पर राजा गया और उसने कहा कि ठीक है तुमने काफी बड़े घेरे बनाए किसने सबसे बड़ा घेरा बनाया है वो खुद कह दे ताकि उसके घेरे का निरीक्षण कर लिया जाए एक ब्राह्मण खड़ा हो गया सारे ब्राह्मण उसे देख के हंसने लगे वो निन्यानवे ब्राह्मण उसको पागल समझते थे क्योंकि उसने एक छोटा सा घेरा बनाया था अत्यंत छोटा सा वो दावा कर रहा है कि मेरा घेरा सबसे बड़ा शायद उसका दिमाग खराब हो गया लेकिन जब दावा किया गया था तो निरीक्षण होना जरूरी था सम्राट उसके घेरे पर गया वहां जाके सम्राट को भी ख्याल आ गया कि वो आदमी पागल है रात उसने जो घेरा बनाया था उसने आग लगा दी थी अब वहां कोई घेरा ही नहीं था सम्राट ने कहा तुम्हारा घेरा कहां है उस ब्राह्मण ने कहा घेरा में कितना ही बड़ा बना था और घेरे में जो जमीन गिरी है वो छोटी ही हो सकती है मैंने घेरा जला दिया और मैं दावा करता हूं कि मेरी जमीन सबसे बड़ी है क्योंकि मेरी जमीन तो कोई घेरा नहीं मेरी जमीन की कोई सीमा नहीं है इसलिए मैं दावा करता हूं कि मेरी जमीन सबसे बड़ी इन सबकी जमीन छोटी ही होंगी कितनी ही बड़ी हो तो भी छोटी होंगी क्योंकि गिरी है जो गिरा है वो छोटा है जो अन्न गिरा है वही बड़ा है सम्राट उसके पैरों पर गिर पड़ा उसने कहा कि मैं जिस ब्राह्मण की खोज में था वो मुझे मिल गया क्योंकि घेरा बनाता है जो वो ब्रह्म को नहीं जान सकता वो ब्रह्म नहीं हो सकता जो घेरे तोड़ देता है वही केवल ब्रह्म को जान पाता है घेरे लेकर हम सब बनाते हैं न मालूम कितनी शक्लों के घेरे बनाते हैं और उन घेरों से चकर जाते हैं उन घेरों से पकड़ जाते हैं मैं भारतीय हूं मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं धनी हूं मैं गरीब हूं मैं ये हूं मैं वो हूं जब तक हम ये घोषणा करते हैं कि मैं ये हूं तब तक हमारे ऊपर घेरा है तब तक हम सीमा से बंधे हैं जिस दिन एक आदमी कह देता है मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन जिस दिन कह देता है मेरा कोई घेरा नहीं जिस दिन कह देता है मैं हूं ही नहीं क्योंकि मैं होऊंगा तो कोई ना कोई घेरा हो जाएगा उस दिन वो असीम की तरफ पहला कदम रखता है असीम की यात्रा में पहला कदम है चित्त पर सारे घेरे हट जाए दूसरा कदम है असीम का सानिध्य हम सीमित के ही सानिध्य में होते हैं ना तो हम कभी खुले आकाश के नीचे होते ना हम कभी दूर सागर के किनारे होते ना हम तारों के पास होते ना हम वो जो चारों तरफ फैला हुआ विराट शून्य है उसके सानिध्य में होते हम तो आदमी से घिरे हैं और आदमी की दुनिया से बंधे हैं आदमी की दुनिया बहुत सीमित है आदमी जो भी बनाएगा वो बहुत सीमित है आदमी जो भी निर्मित करेगा वो असीम के लिए नहीं हो सकता हम आदमी और आदमी और आदमी से गिर गिर के एकदम सीमित होते चले गए जो प्रकृति के करीब नहीं पहुंचता वो अनंत के और असीम के करीब नहीं पहुंच सकता परमात्मा को खोजने आदमी के बनाए हुए मंदिरों में न जाए परमात्मा को खोजने उस विराट के निकट जाए जो चारों तरफ हमेशा मौजूद है और बुला रहा है लेकिन उस तरफ हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता उस तरफ हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता हम भूल ही गए हैं हमारे चारों तरफ एक आनंद फैला हुआ है हमें कल्पना भी नहीं रही है कि आनंद कितने दूर तक चला गया होगा कैसा होगा एक धर्मगुरु ने एक रात सपना देखा कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया जीवन भर स्वर्ग की ही उसने कामना की थी और आज स्वर्ग के द्वार पर देखकर वो बहुत खुश हुआ उसने सोचा कि जरूर भगवान द्वार पर खड़े हुए मुझे गले लगाने को उत्सुक होंगे क्योंकि मैं उन्हीं की तो प्रार्थना करता रहा जीवन भर उन्हीं का तो गुणगान करता रहा उन्हीं की स्तुति करता रहा जरूर वे द्वार पर खड़े होंगे और गले भर के मुझे आलिंगन करेंगे और महल में ले जाएंगे लेकिन द्वार वहां बंद था स्वर्ग का वहां कोई भगवान तो दूर वहां कोई भी नहीं था वो बहुत हैरान हुआ फिर उसने सोचा शायद मेरे आने की कोई खबर ना हुई हो तो उसने द्वार पीटना शुरू किया लेकिन द्वार पर आवाज का कोई आवाज भी पैदा नहीं होती थी द्वार इतना बड़ा था हर वो आदमी इतना छोटा था कि जैसे कोई चींकी किसी लोह द्वार पर चोट करती हो ऐसी वो चोट थी उसकी कोई ध्वन पैदा नहीं होती वो द्वार इतना बड़ा था कि उसको और छोर दिखाई नहीं पड़ते वो कहां खत्म होता है कहां शुरू होता है कुछ पता नहीं चलता था वो तो घबरा आया वो ठोक रहा है पीट रहा है दरवाजा उसके हाथ पैर दुखने लगे उसकी सांसें थप गई तब कहीं कोई एक खिड़की खुली द्वार से और कोई चेहरा बाहर झांका उस चेहरे की कम से कम हजार आंखें होंगी और एक एक आंख एक एक बड़ा चलता हुआ सूरज थी उससे इतनी रोशनी आ रही कि वो पुरोहित घबरा के कोने में दब गया और चिल्लाने लगा आप भीतर ही रहे भगवान इतने बाहर ना निकले मैं बहुत घबरा गया हूं उन हजार आंखों वाले आदमी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं मैं तो केवल यहां का पहरेदार भगवान से तो मेरा भी मिलना नहीं हुआ है तू कौन है और कहां से बोल रहा है मुझे दिखाई नहीं पड़ता आंखें हजार सूरज जैसी हैं लेकिन इतनी बड़ी आंखें भी उस आदमी को नहीं देख पा रही क्योंकि आदमी बहुत छोटा है थोड़ा में खोजती है और कहती तू कहां है और कौन है वो नीचे से चिल्लाता है क्या तुम्हें पता नहीं मैं फलाने फलाने धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु हूं आर्च प्रीस्ट हूं मेरा नाम का तो तुम्हें पता नहीं अखबार नहीं पढ़ते हो किताबें नहीं पढ़ते हो कितनी किताबों में मेरा नाम छपा कितने अखबारों में मेरी खबर निकलती उस पहरेदार ने कहा यहां तक कोई खबर नहीं पहुंच पाती सब खबरें बीच में ही समाप्त हो जाती फासला बहुत ज्यादा है तुम कहां से आते हो पहले ये बताओ उसने कहा मैं आदमी हूं और पृथ्वी से आता हूं उस पहरेदार ने कहा आदमी पृथ्वी ये शब्द यहां पहली बार सुने जा रहे कौन सी पृथ्वी है क्या नंबर है तुम्हारी पृथ्वी का क्या इंडेक्स नंबर है क्योंकि तो करोड़ों पृथ्वियां हैं कौन सी पृथ्वी से आते हो किस प्रकार के मनुष्य हो क्योंकि करोड़ों प्रकार के मनुष्य हैं उस आदमी ने कहा सूर्य की पृथ्वी अब वो धर्मगुरु घबराने लगा था उसके पैर के नीचे की जमीन की सुस्ती जा रही थी कि जब पृथ्वी तक का कोई पता नहीं जब आदमीयत का भी कोई पता नहीं तो मेरे धर्मगुरु की कोई खबर यहां पहुंची हो बहुत मुश्किल है और ये तो पहरेदार है इस तक भी खबर नहीं पहुंची तो आगे का कोई हिसाब लगाना गलत उसके पैर खिसकने लगे थे उसने कहा सूर्य वाली पृथ्वी उस पहरेदार ने कहा अरबों सूर्य और अलग अरबों सूर्यों की अपने अपने तारे अपनी अपनी प्रतिमाएं अपने अपने ग्रह कौन सा सूर्य उसने कहा हमने तो कोई नाम नहीं रखा हम तो एक ही सूर्य को पहचानते हैं इसलिए नाम रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी उसने कहा फिर भी मैं कोशिश करता हूं पता लगाने की लेकिन कम से कम छह महीने लग जाएंगे पता लग जाएगा कि तुम किस जगह से आते हो लेकिन तुम चाहते क्या हो उस धर्म उनकी जवान बंद हो गई क्योंकि ऐसे विराट के समक्ष चाय का मनुष्य की चाय का मूल्य भी क्या हो सकता है कौन से सुनेगा कौन से पहचानेगा घबराहट में उसकी नींद खुल गई ठंडी रात थी वो पसीने से तरपतर अपने बिस्तर पर पड़ा सुबह उसने चर्च में जाके कहा कि रात में बहुत घबरा गया हूं मुझे पहली दफे ख्याल आया है कि इतना विराट है ये सब कुछ इस विराट का मुझे कोई ख्याल ही न सूरज से पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी आने में दस मिनट लगते हैं शायद हमको लगेगा कि सूर्य बहुत पार है शायद हमें पता ना हो कि प्रकाश की किरण कितनी यात्रा करती है एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील की यात्रा करती है एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील चलती है सूर्य की तरफ दस मिनट लगते हैं सूरज की किरण को पृथ्वी तक आने लेकिन सूरज बहुत करीब है पृथ्वी के जो निकटतम तारा है उस जमीन तक प्रकाश आने में चार वर्ष लगते हैं उसी गति से एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील की गति रोशनी चलती है तो चार वर्ष में पहुंचती है जो सबसे निकट का तारा है जो सबसे दूर के तारे हैं किसी से चार करोड़ वर्ष लगते हैं किसी से पांच करोड़ वर्ष लगते हैं पृथ्वी तक रोशनी आने पृथ्वी को बने दो अरब वर्ष हुए ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी पृथ्वी के बनने के पहले चली थी और अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची उसके आगे भी तारे होंगे उसके आगे भी तारे होंगे उसको मील से नहीं नापा जा सकता क्योंकि मील का कोई हिसाब वहां काम नहीं करता इतना ये जो विराट है धार्मिक व्यक्ति को इस असीम का बोध होना चाहिए उसे बोध किस बात के उसे इस बात का बोध है कि मैंने अपने गांव में सबसे बड़ा मकान बना लिया इसका बोध है उसकी पृथ्वी की भी कोई गणना नहीं है जगत उसका सूरज भी सबसे छोटा सूरज है पृथ्वी से हमारा सूरज साठ हजार गुना बड़ा है लेकिन ये सूरज सबसे छोटा सूरज है ऐसे दो अरब सूरज का पता तो विज्ञान को है वो इससे बड़े करोड़ों अरबों गुना बड़े और हमने बलसाल में एक तीन मंजिल का मकान बना लिया तो हम इतराए घूम रहे हैं हम पागल हो गए कि हमने तीन मंजिल का मकान बना लिया सुना तुमने कि मंजिल तीन का मकान बना हम पागल हुए घूम रहे हैं हमारा बोध हमारे मकान का बोध है और हम जिस बड़े मकान में रह रहे हैं उसका हमें कोई भी पता उसका हमें कोई ख्याल नहीं फिर हम अपने ही मकान जैसा भगवान के लिए भी एक मकान बना लेते हैं और कहते हैं मैंने अपने लिए नहीं एक भगवान का मंदिर भी मैंने बना दिया भगवान का मंदिर केवल उस हृदय में बनता है जो असीम के साथ एक हो जाता है भगवान का मंदिर किन्हीं दीवारों के भीतर नहीं बन सकता है और जब आदमी भगवान का मंदिर दीवारों में बना लेता है तो वो खुद तो कैदी है वो एक कैदी भगवान को भी पैदा कर देता है ऐसे कई तरह के भगवान पैदा हो गए हैं वो सब कैदी भगवान है वो आदमी की कसू एक चर्च में एक रात एक काले आदमी ने दरवाजा खटखटाया पादरी ने द्वार खोला उसे पता नहीं था कि काला आदमी द्वार पर खड़ा है क्योंकि वो चर्च काले लोगों का चर्च ना वो मंदिर गोरे लोगों मंदिरों में भी चमड़ी के रंगों पर ख्याल किया जाता है मंदिर में भी आदमी पहचाने जाते हैं कि कौन आदमी भीतर आने में योग है पात्र है कौन आदमी नहीं और इसकी जांच जन्म से की जाती है इसकी जांच चौड़ी से की जाती है इसकी जांच वो आदमी किस जमीन पर पैदा हुआ इससे की जाती है इसकी जांच इस बात से की जाती है कि वो आदमी किस किताब को पढ़ता है उस पादरी ने देखा कि काला आदमी द्वार पढ़ रहा है उसके लिए तो मंदिर नहीं है अगर पुराने दिन होते तो वो कहता शूद्र यहां तो कैसे आ गए और पुराने दिन होते तो उसकी गर्दों ने अलग कर दी जाती और पुराने दिन होते तो उसके आंख कान फोड़ दिए जाते कि तूने अपनी अपवित्र आंखों से इस मंदिर को कैसे देखा है लेकिन जमाना बदल गया अब ऐसे काम करने जरा मुश्किल है दिल तो बहुत होता है पुरोहित का कि ऐसे काम करवा दे लेकिन बहुत मुश्किल है उसने उसको कहा कि मेरे भाई तुम कैसे आए यहां कैसे आना हो गया उस नीगरों ने कहा हट जाए द्वार से मुझे मंदिर के भीतर आने दें मुझे भी प्रभु की प्यास पैदा हो गई मत रोके मुझे मुझे मेरे प्राण उसके लिए आतुर है वो पादरी हंसने लगा और उस पादरी ने कहा पागल मंदिर में आने से क्या होगा पहले जा हृदय को पवित्र कर प्रार्थना कर प्रेम कर मन को शांत कर मौन कर जब तेरे प्राण एक शांति की ज्योति शिखा बन जाएंगे तू आ जाना फिर प्रभु के दर्शन हो सकते हैं ऐसे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते और उसने द्वार बंद कर दिए वो काला आदमी वापस लौट गया उस पादरी ने सोचा कि न इसका मन कभी पवित्र होगा न ये दोबारा लौट के आएगा सब काम कर जाएगी झंझट के हम बाहर हो गए हैं एक साल बीत गया फिर पादरी निश्चिंत हो गया वो आदमी कभी दिखाई ही नहीं पड़ा लेकिन एक साल बाद एक दिन सुबह सुबह ही सूरज निकला है और वो आदमी चला आ रहा है चर्च की तरफ उस पादरी के प्राण दर्द खाने लगे कहीं वो आ तो नहीं रहा और उसकी चाल को देखकर उसे लगा कि शायद वो जरूर आ रहा है क्योंकि उसके पैर एक अद्भुत शांति से उठ रहे हैं उसकी आंखों की ज्योति बदल गई उसके चेहरे का भाव बदल गया वो एक पवित्र फूल की तरह हो गया है वो चर्च का पादरी घबरा गया है लेकिन नहीं वो गलती हो रही है उससे वो निकलो वो काला आदमी मंदिर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा वो आगे चला गया पादरी दौड़ा उससे रोका और कहा कि मेरे दोस्त तुम आए नहीं वो नीग्रो हंसने लगा उसने कहा आप न पूछे तो अच्छा एक साल मैंने यही कोशिश की कि कम मंदिर में प्रवेश पा जाऊं एक साल प्रार्थना और प्रेम का ही वर्ष था एक साल मैंने प्राणों को पवित्र करने के सब उपाय किए और धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और मेरे प्राण एक सुगंध से भरने लगे एक संगीत उतरने लगा आशा बुझने लगी कि आज नहीं कल आज नहीं कल किसी दिन मंदिर में प्रवेश का अधिकारी हो जाऊंगा और कल सांझ को तो लगता था कि आ गया उस समय और लगता था कि कल सुबह होते ही मंदिर पहुंच जाऊंगा प्रभु के दर्शन हो जाएंगे लेकिन रात सब गड़बड़ हो गया उस पादरी ने पूछा रात क्या हुआ उस निगरों ने कहा आप न पूछे तो अच्छा लेकिन आप नहीं मानते तो मैं कह देता हूं रात सपने में मुझे भगवान दिखाई पड़े और वो भगवान कहने लगे कि तू पागल क्यों इतनी प्रार्थना कर रहा है किसके लिए क्या चाहता है क्या तेरी मर्जी क्या तेरी इच्छा तो मैंने कहा मेरी और कोई मर्जी नहीं वो तुम्हारा जो मंदिर है गांव में उसमें प्रवेश चाहता हूं तो भगवान एकदम उदास हो गए और कहने लगे कि ये मांग तू मत कर कि ये वरदान भर में नहीं दे सकता हूं और सब दे सकता हूं दस साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं उस मंदिर में वो पादरी मुझको ही भीतर नहीं आने देता तो मुझे कैसे भीतर आने देता दस साल की भी बात होती तो भी ठीक थी भगवान ने शायद मुन्नी को घबरा ना जाए इसलिए दस साल कहा हो वैसे हजारों साल से ये कोशिश चल रही है कि भगवान मंदिरों में प्रवेश पा जाए लेकिन पादरी पुरोहित पुजारी प्रवेश करने नहीं देते नहीं करने देंगे नहीं करने देंगे नहीं हो सकता ये प्रवेश क्योंकि सीमा में असीम का प्रवेश असंभव है वो जो सीमित है वो जो दीवारों में बंद घर है वहां असीम का प्रवेश नहीं हो सकता असीम में जाना हो तो सीमाएं अपनी छोड़नी होंगी तो असीम से मिलन हो सकता है असीम को अपनी सीमाओं में नहीं लाया जा सकता है बूंद चाहती हो कि समुद्र बूंद में आ जाए तो ये नहीं हो सकता लेकिन बूंद चाहे कि मैं समुद्र में गिर जाऊं तो ये हो सकता है मनुष्य चाहे कि हम परमात्मा को अपने मकान में ले आए तो वो भूल में वो गलती में ये नहीं हो सकता लेकिन मनुष्य अगर चाहे कि मैं परमात्मा में प्रविष्ट हो जाऊं तो ये हो सकता है ये संभव है असीम में सीमा खोई जा सकती है लेकिन असीम को सीमा में नहीं लाया जा सकता है ये पहला सूत्र स्मरण रखने जैसा है कि हमारे जीवन में सीमा से अतिक्रमण और असीम की गति बढ़ती चली जाए असीम का ध्यान असीम का स्मरण असीम का भाव प्रवेश करता जाए विचार में भाव में जीवन में प्रविष्ट होता चला जाए जहां सीमा मिल जाए वहीं से सीमा को उखाड़ने की कोशिश चलती रहे तो एक दिन ये सूत्र पूरा हो सकता है पहली बात दूसरी बात जिस भांति असीम का बोध जरूरी है वैसे ही अनंत का बोध भी जरूरी है असीम के बोध का अर्थ है क्षेत्र में स्थान में स्पेस में असीम और अनंत का अर्थ है समय में काल में टाइम में अनंत दो ही अस्तित्व है जगत में स्पेस और टाइम काल और क्षेत्र दो ही जगत है स्थान है और समय है बस दो ही अस्तित्व है और दोनों के अस्तित्व से मिलकर सारा जीवन है स्थान में असीम का बोध होना चाहिए कि स्थान कहीं भी समाप्त नहीं होता समाप्त ही नहीं होता कोई सीमा नहीं आती ऐसे ही समय भी कहीं समाप्त नहीं होता न कहीं शुरू होता उसकी भी कोई सीमा नहीं आती लेकिन स्थान में हम जीते हैं छोटे छोटे घेरे बनाकर और समय में भी हम जीते हैं छोटे छोटे घेरे बनाकर एक आदमी सोचता है कि मेरा पचास साल की जिंदगी जो है वही जिंदगी है पचास साल का समय जो है वही मेरा जीवन है जीवन इतना ही नहीं है क्योंकि मैं नहीं था तब भी जीवन था मैं जब नहीं रहूंगा तब भी जीवन रहेगा मैं जीवन में जागता हूं जीवन में लीन हो जाता हूं एक लहर समुद्र में उठती है जब नहीं उठी थी तब भी समुद्र था जब गिर जाएगी और बिखर जाएगी तब भी समुद्र होगा लहर का होना एक क्षण की घटना है लहर का हो जाना एक क्षण की घटना है सागर का होना अनंत है हमेशा है था रहेगा लहर अगर सोच ले कि मैं ही हूं तो भूल में पड़ जाएगी लहर सिर्फ दिखाई पड़ती है है नहीं है तो समुद्र ही लहर सिर्फ दिखाई पड़ती है है नहीं वो केवल अपियरेंस है केवल दिखाई पड़ना अस्तित्व नहीं लेकिन जब लहर उठती है आकाश की तरफ तब उसको भी लगता होगा कि मैं हूं मैं कुछ हूं एक क्षण लग भी नहीं पाता होगा कि बिखराव आ जाता है और लहर विलीन हो जाती दूसरी लहरें उठाती वे लहरें विलीन हो जाती जिसमें लहरें उठती हैं और जिसमें लीन हो जाती हैं वो है लहरें उठती हैं दिखाई पड़ती हैं है नहीं उनका होना केवल दिखाई पड़ना है उनकी वास्तविक सत्ता उसके साथ है जो उनके पहले है और उनके पीछे है मनुष्य भी समय में उठी एक लहर है समय के अनंत सागर में उठाई एक कंपन एक लहर है लेकिन मनुष्य को लगता है मैं हूं और यही वो समय में सीमा को बांध लेता है फिर वो कहता है मेरा जन्म मेरी मृत्यु और इन दोनों के बीच में वो जीवन को मान लेता है जन्म है लहर का उठना मृत्यु है लहर का लीन हो जाना जीवन नहीं है उन दोनों के बीच जीवन उनके पार भी है जीवन का न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत है समय में भी टाइम में भी ये अनंत का बोध धार्मिक व्यक्ति की दूसरी पात्रता है लेकिन ये बोध कैसे हो कैसे हमें ये पता चले और जिस दिन ये अनंत समय का बोध हमें होगा उसी दिन हमें एक अद्भुत अनुभव होगा एक अद्भुत अनुभव होगा जैसे ही हमें पता चलेगा कि मैं जन्म के पहले भी था और जन्म के बाद भी रहूंगा वैसे ही हमें पता चलेगा कि मैं हूं ही नहीं कुछ और ही है क्योंकि मैं तो बनता हूं और बिखर जाता हूं मेरे भीतर कुछ और भी है जो न बनता है न बिखरता है जिसके आसपास मैं बनता हूं और टूट जाता हूं लेकिन कुछ और भी है जो न बनता है न टूटता है लेकिन हम तो समय की रेत पर कुछ होने की कोशिश में लगे रहते हैं अपने हस्ताक्षर करना चाहते हैं समय की रेत पर हस्ताक्षर कर देना चाहते हैं कि जानू कि मैं हूं बच्चे जाते हैं नदी के रेत पर नाम लिखाते हैं बूढ़े उनको कहते हैं पागलों इन पर नाम मत लिखो नदी की रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा है अभी पानी आएगा सब नाम बह जाएंगे हवा चलेगी रेत उड़ेगी सब नाम साफ हो जाएंगे लेकिन बूढ़े भी चट्टानों पर नाम लिखते हैं मंदिरों पर नाम लिखते हैं स्मारकों पर नाम लिखते हैं और भूल जाते हैं ये कि जिसको वो पत्थर कह रहे हैं वो रेत ही है कभी रेत थी फिर रेत हो जाए बच्चे जरा सॉफ्ट मीडियम चुनते हैं रेत का मनुष्य जरा हार्ड मीडियम चुनते हैं पत्थर लेकिन रेत और पत्थर एक ही चीज की दो सकते हैं रेत पत्थर हो जाती पत्थर रेत हो जाती लेकिन आदमी इस कोशिश में रहता है कि समय की रेखा पर अपना नाम छोड़ जाए बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं स्कूल सिखाता है अपना नाम छोड़ जाना तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम रह जाए ऐसे काम करना अहंकार के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं सिखाते अहंकार क्या है समय की रेत पर हस्ताक्षर करने की आकांक्षा और क्या है और क्या है कि मैं लिख जाऊं मेरा नाम किसी भी तरकीब से लिख जाऊं मेरा नाम मेरा नाम मिट न जाए हम पागल हैं जब हम ही मिट जाते हैं तो हमारा नाम कैसे दिख सकेगा और नाम तो एक झूठी कल्पना थी कोई जन्म के साथ नाम लेके पैदा नहीं होता न मृत्यु के साथ कोई नाम लेके जाता है नाम तो आदमियों की ईजाद है नाम रख लेते हैं कि काम चल जाए किसी को कहते हैं राम किसी को कहते हैं कृष्ण कि नाम चल जाए न राम का नाम राम है न कृष्ण का नाम कृष्ण नाम किसी का कुछ है ही नहीं अनाम पैदा होते हैं नेमलेस और अनाम ही समाप्त हो जाते हैं लेकिन नाम का मोह भारी है जिस आदमी में नाम का मोह भारी है वो परमात्मा से नहीं मिल सकेगा क्योंकि परमात्मा अनाम है उसका कोई नाम नहीं नाम का हुआ की तख्तियां लेकर जो परमात्मा की तरफ जा रहे हैं वे कहीं भी खोज लें उन्हें परमात्मा नहीं मिलेगा नाम की तख्ती बीच में है तो परमात्मा से मिलना नहीं हो सकता और नाम के हम बड़े मोही हैं और समय में समय की बहती धार में हमारा नाम टिका रह जाए बचा रह जाए बेटे हमारे हमारे बच्चे नाम को बचाएं हमारे मकान हमारी इज्जत हमारे नाम को बचाए हमारे शास्त्र हमारी किताबें हमारे पत्थर हमारे स्मारक हमारे नाम को बचाए एक बहुत पुराने दिनों की घटना है एक सम्राट चक्रवर्ती हो गया चक्रवर्ती अर्थात उसने सारी दुनिया जीत ली वो अकेला विजेता हो गया सब लोग उससे हार गए तो चक्रवर्तियों के लिए विधान था कि वे स्वर्ग में जाकर सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर करते थे सुमेरु पर्वत सबसे कठोर पर्वत है सभी को मौका नहीं मिलता उस पर हस्ताक्षर करने का सिर्फ चक्रवर्तियों को मिलता है वो सबसे मजबूत पाषाण है सारे पाषाण गल जाते हैं और वो नहीं गलता और सारे पहाड़ गिर के गड्ढे हो जाते हैं और वो गड्ढा नहीं होता वो देवताओं का पर्वत है वो आदमियों का पर्वत नहीं है देवताओं के पर्वत आदमियों से मजबूत होते देवताओं का अहंकार भी आदमियों से मजबूत होता होगा कुछ कुछ आदमी जो देवताओं की कोटि में ऊंचे उठ जाते हैं उनको वहां हस्ताक्षर करने का मौका मिलता है चक्रवर्तियों को मौका मिलता है वह एक आदमी चक्रवर्ती हो गया फिर वो भारी बैंड बजा लेकर स्वर्ग की तरफ चला दस्तखत करने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए दोनों ने कहा कि आप अकेले ही भीतर जा सकते हैं ये सब लोग नहीं उसने कहा फिर मजा ही क्या है जब दूसरे लोग देखने वाले ना हो क्योंकि नाम के हस्ताक्षर का मजा ही है कि दूसरे देखने वाले हो हालांकि ख्याल रखना कि अपने नाम के हस्ताक्षर आपके अतिरिक्त कोई नहीं पढ़ता अपने हस्ताक्षर खुद ही आदमी पढ़ता है दूसरा कोई फिक्र नहीं पड़ता किसको फुर्सत पड़ी अपना नाम पढ़ने से फुर्सत मिले तो किसी दूसरे का नाम कोई पढ़े लेकिन चक्रवर्ती उदास हो गया लेकिन उसने कहा कि नियम यही है और अभी आप उदास हो रहे हैं भीतर से आप लौटेंगे तो आप कहेंगे कि नियम ठीक चक्रवर्ती ने कहा तब से ठीक मैं चलता हूं वो अपनी हथौड़ी छेनी लेकर भीतर प्रविष्ट हुआ महान विशाल पर्वत है उसका कोई ओर छोर नहीं वो पहरेदार उससे कहने लगा कि लेकिन एक बात आपसे निवेदन कर दू पहाड़ पर इतने नाम लिखे जा चुके हैं कि कोई जगह नहीं बची तो आपको थोड़ा किसी का नाम मिटा के पहले फिर नाम लिखना पड़ेगा उसने कहा कि पर्वत पर नाम बचने लिखने की जगह नहीं बची क्या इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं मैं तो सोचता था ये काम मैंने ही कर लिया है वो तो पहरेदार ने कहा सभी को ये भ्रम होता है कि ये काम मैंने ही कर लिया है ये बात मैंने ही कह दी है ये मकान मैंने बना लिया ये किताब मैंने लिख दी है जो एक दफा हुआ है वो करोड़ दफा हो चुका है अरब दफा हो चुका कुछ भी नया नहीं है चक्रवर्ती उदास होने लगा तो पहलगाम ने कहा आप उदास न हो मेरे पिता भी यही पहरेदार थे उनके पिता भी यही पहरेदार थे उनके पिता भी यही पहरेदार हमने जन्म जन्म से यही बात सुनी है कि जब भी चक्रवर्ती आता है नाम मिटा के ही दस्तक करने पहली भरा हुआ आप चिंतित न हो दिन चक्रवर्ती ने सब मजा जाता रहा जिस जमीन पे आप रह रहे हैं आपको पता है वो जमीन कितने लोगों की कब्र बन चुकी है आप किसी की कब्र पर रह रहे हैं जमीन पर एक अंगुल जमीन ऐसी नहीं है जो मरकज न बन चुकी हो जहां बड़ी बस्तियां दिखाई पड़ती हैं वो कभी मरकज है जहां आज बड़ी बस्तियां हैं कभी वहां मरकज हो जाए सब चीज बनती है और बिगड़ जाती है जीवन में इसका स्मरण कि समय की जो रेखा उठती है वो उठती है और विभिन्न हो जाती है और उसके पहले भी सब उसके बाद भी सब समय की दृष्टि से टाइम की दृष्टि से अनंत का बोध तो फिर उस आनंद में मैं अपने को बनाने की कोशिश छोड़ देता फिर उस आनंद में अपना निशान छोड़ जाने का कोई सवाल नहीं फिर उस आनंद में हस्ताक्षर कर जाने की कोई बात नहीं है मैं एक लहर हूं बनूंगा और विलीन हो जाऊंगा समय है अनंत क्षेत्र है असीम दो सूत्र और तीसरा सूत्र कि मनुष्य है शून्य क्षेत्र है असीम समय है अनंत और मनुष्य है शून्य तीसरा सूत्र है शून्य का बोध पहला सूत्र है असीम का बोध दूसरा सूत्र है अनंत का बोध तीसरा सूत्र है शून्य का बोध कि मैं नहीं हूं और यही धार्मिकता की रिलीजियस माइंड की गहरी से गहरी पकड़ और पहुंच है कि वो जान ले कि मैं नहीं हूं क्योंकि जिस दिन कोई जान लेता है कि मैं नहीं हूं उसी दिन उसे पता चलता है कि परमात्मा है जब तक कोई सोचता है मैं हूं तब तक परमात्मा नहीं है ये दोनों अनुभव एक साथ नहीं हो सकते या तो मैं हूं या परमात्मा है इसलिए अगर कोई आदमी पूछता है कि क्या परमात्मा है तो उसे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं उससे यही कहने की जरूरत है कि तुम हो और जब तक तुम हो तब तक परमात्मा नहीं हो सकता खुद को खोने का साहस ही परमात्मा को पाने का अधिकार खुद को पोछ डालने मिटा डालने की सामर्थ्य परमात्मा को उपलब्ध करने की पात्रता है स्वयं में शून्य हो जाना ही पूर्ण के लिए द्वार बन जाना तो अंतिम सूत्र है शून्यता का बोध मैं नहीं हूं लेकिन ये बोध कैसे हो हमें तो लगता है कि मैं हूं मैं बहुत कुछ हूं हर आदमी को समबड़ी होने का बोध है नोबड़ी होने का किसी को नहीं किसी को जरा धक्का लग जाए तो कहता जानते नहीं मैं कौन हूं आपने धक्का मारा हर आदमी यही कहता है कि जानते नहीं मैं कौन हालांकि कोई भी खुद भी नहीं जानता है कि वो कौन लेकिन दूसरे को वो कहता है जानते नहीं मैं कौन उसको खुद भी पता नहीं कि वो कौन क्योंकि जिस दिन उसे पता चलेगा कि कौन है वो उसी दिन उसे पता चलेगा मैं नहीं हूं परमात्मा एक महल के पास पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ है कुछ बच्चे वहां से खेलते निकल आए थे और एक बच्चे ने पत्थर उठा के महल की तरफ फेंका पत्थर ऊपर उठने लगा पत्थर के पास पंख नहीं होते कि आकाश में उड़ जाए लेकिन पत्थर पत्थर के भी प्राणों में ये वासना तो उठती है कि कभी आकाश में उड़ू पत्थर भी सपने तो देखता है आकाश में उड़ने के पक्षी शायद सपने न देखते होंगे आकाश में उड़ने के लेकिन पत्थर जरूर सपने देखते हैं आकाश में उड़ने के जीवन में जो नहीं मिलता उसी को तो आदमी सपने में देखता है तो पत्थर रात रात सोचते होंगे कि आकाश में उड़ जाए पक्षी जैसे पड़ मिल जाए सूरज को छू लें लेकिन पत्थर के पास पंख नहीं कि आकाश में उड़ जाए आधा एक पत्थर आकाश की तरफ उठने लगा तो वो पत्थर फूल के दुगना बड़ा हो गया होगा जब आदमी तक फूल के दुगना बड़ा हो जाता है तो पत्थर क्या पत्थर तो हो ही जाएगा उस पत्थर ने नीचे पड़े पत्थरों को तिरस्कार के भाव से देखा और कहा कि मित्रों में आकाश की यात्रा को जा रहा हूं नीचे के पत्थर तिल मिला के रह गए होंगे ईर्षा से जल के रह गए होंगे लेकिन क्या कर सकते थे झूठ भी नहीं कह सकते थे पत्थर ठीक ही कह रहा था वो आकाश की तरफ जा रहा था लेकिन उस पत्थर ने एक बात बदल दी एक छोटी सी बात और सब बदल गया छोटा सा फर्क और जमीन और आसमान अलग हो जाते छोटा सा बाल भर फर्क और सत्य और असत्य अलग हो जाते हैं बाल भर फर्क और जीवन और मृत्यु अलग हो जाते हैं उस पत्थर ने थोड़ा सा फर्क कर दिया वो फेंका गया था लेकिन उसने कहा कि मैं जा रहा हूं सारा फर्क हो गया उस पत्थर को फेंका गया था वो जाने रहा था लेकिन उसने कहा कि मैं जा रहा हूं और इसको कोई इंकार भी नहीं कर सकता था वो दिखाई पड़ रहा था कि जा रहा था वो जाके महल के कांच की खिड़की से टकराया कांच चकनाचूर हो गए अब ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि कांच और पत्थर टकराए तो कांच चकनाचूर हो जाए इसमें पत्थर कांच को चकनाचूर करता नहीं है कांच चकनाचूर हो जाता है इट जस्ट हैपन्स ये कांच का स्वभाव है कि पत्थर से टकरा के वो चकनाचूर हो जाता है इसमें पत्थर चकनाचूर करता नहीं है पत्थर को कुछ भी नहीं करना पड़ता टकराना काफी है और कांच चकनाचूर हो जाता है ये कांच का स्वभाव है ये पत्थर का स्वभाव है इसमें कोई कुछ करता नहीं है ये कोई कर्म नहीं है ये कोई कृत्य नहीं है कि पत्थर कहे लेकिन पत्थर ने कांच के टूटे टुकड़ों से कहा पागलों तुम्हें पता नहीं है मैंने कितनी बार घोषणा की है आकाशवाणी पर खबरें नहीं सुनते हो अखबार नहीं पढ़ते हो कितनी बार नहीं मैंने कहा है कि मेरे रास्ते में कोई ना आए नहीं तो चकनाचूर कर दूंगा अब भोगो अपने भाग को अब पछताओ अपनी नासमझी को मैं पत्थर हूं मैं कोई साधारण पत्थर नहीं आकाश में उड़ने वाला पत्थर हूं जो मेरे रास्ते में आता है उसको मैं चकनाचूर कर देता हूं जरा सा पर चकनाचूर हो जाता है कर नहीं देता पत्थर लेकिन इतने से फर्क से सब फर्क पड़ गए कांच के टुकड़े इनकार भी क्या कर सकते थे चकनाचूर हो गए वो पत्थर नीचे गिरा कालीन बहुमूल्य बिछे हुए थे महल के उस पत्थर ने हल्की ठंडी सांस ली और उसने कहा इस महल के लोग बड़े सज्जन बड़े सुसंस्कृत मालूम ज्ञात होता है मेरे आने की खबर पहले ही पहुंच गई कालीन वगैरह सब बिछा रखे अब महल के मालिकों को कोई पता भी नहीं था कि कोई पत्थर घर में मेहमान होने को मेहमानों का किसी को भी कोई पता नहीं होता इसलिए तो हम उनको अतिथि कहते हैं अतिथि मतलब जो बिना तिथि की खबर दिए घर पर हाजिर हो जो कोई खबर नहीं देते कि हम आ रहे हैं इसलिए तो अतिथि कहते हैं तो अतिथि की किसी को खबर तो होती नहीं और उस पत्थर की तो किसको खबर थी मैल के लोगों को पता भी नहीं होगा कि तुम पत्थर आएगा लेकिन पत्थर ने अपने मन में कहा कि धन्यवाद बहुत सुसंस्कृत लोग मालूम होते हैं मेरे स्वागत में कालीन बिछा रखे क्यों हो भी क्यों ना आखिर मैं कोई साधारण पत्थर तो नहीं आकाश में उड़ने वाला पत्थर हूं वो सुस्ता था आराम करता था और तभी महज के पहलेदार ने आवाज सुनी होगी कांच के टूट जाने की वो भागा हुआ आया उसको आया देख के पत्थर में का मालूम होता है मालिक खुद स्वागत के लिए आया अब पत्थर क्या सोच रहा है किसी को भी कोई पता नहीं हर आदमी अपने मन के भीतर क्या सोचता रहता है उसको ही पता है और किसी को कुछ भी पता नहीं नौकर ने आके पत्थर को हाथ में उठाया फेंक देने के लिए लेकिन पत्थर ने हाथ में आके कहा धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद मालूम होता है मालिक हाथ में लेके प्रेम जता रहा है स्वागत जता रहा है नौकर को क्या पता पत्थर की भाषा है उसने पत्थर को वापस फेंक दिया खिड़की से पत्थर जब वापस गिरने लगा तो उस पत्थर ने कहा घर की बहुत याद आती है मित्रों की होम सिकनेस मालूम होती महलों में मन नहीं लगता अपने वे झोंपड़े खुले आकाश के नीचे पड़े रहना वही बहुत आनंद था कहां अपनी मातृभूमि कहां पर आए महल होंगे तुम्हारे महल तुम्हारे काम लेकिन मैं जाता हूं वो भेजा जा रहा था लेकिन वो कहने लगा मैं जा रहा हूं वो जब वापस गिरने लगा अपनी पत्थरों की ढेरी पर उसने कहा मित्रों मैं वापिस लौट आया हूं मैंने न मालूम किन किन अज्ञात देशों में यात्रा की जैसा कि कोई भारत में लौट आता है अमेरिका से इंग्लैंड से तो फिर 24 घंटे ये कहने लगता है कि मैं इंग्लैंड गया था मैं अमेरिका गया था मैं वहां गया मैं वहां गया वैसे ही बेचारा वो पत्थर भी कहने लगा कि मैं बड़ी बड़ी राजधानियों में ठहरा बड़े बड़े महलों में ठहरा बड़े सम्राटों ने मेरा स्वागत किया लेकिन फिर मेरा मन उठ गया हमने महल उनके अच्छे होंगी राजधानियां सुंदर लेकिन कहां अपना देश कहां अपनी मातृभूमि मदरलैंड में वापस लौटा पत्थरों ने स्वागत किया फूल मूल के हार पहनाए होंगे बहुत शोभा यात्रा निकाली होगी और फिर सब सभा करके उस पत्थर से कहे कि तुम अपनी आत्मकथा जरूर लिख दो आने वाले बच्चों के काम पड़ेगी ऐसा महापुरुष हमारे बीच कभी पैदा नहीं हुआ वो पत्थर अपनी आत्मकथा लिख रहा है बहुत से और पत्थरों ने भी अपनी आत्मकथाएं लिखी वो भी लिखेगा तो लेकिन उसकी अहंकार की कथा को वो आत्मकथा कहेगा सब आत्मकथा अहंकार की कथा है सारा भ्रांत जीवन सारा धार्मिक जीवन अहंकार की यात्रा और सारी भूल इतनी सी है जितनी उस पत्थर की उस पत्थर पर हमको हंसी आती है लेकिन जिस दिन किसी आदमी को अपने पे हंसी आ जाती है उसके जीवन में धर्म का प्रारंभ हो जाता हम भी कहते हैं मेरा जन्म फेंके गए हैं हम लेकिन कहते हैं मेरा जन्म कोई अज्ञात हाथ फेंक देता है जीवन में और हम कहते हैं मेरा जन्म मेरा जन्मदिन जैसे हमसे पूछा गया हो जन्म के पहले कि महानुभाव आप कहा जन्म लेना चाहते हैं बलसार किसके घर जन्म लेना चाहते हैं हिंदू के घर ब्राह्मण के घर जैन के घर किस पवित्र कुल में आपका इरादा उतरने का है जैसे हमसे पूछा गया हो जैसे ये हमारा निर्णय हो ये हमारा डिसीजन हो ये हमारी च्वाइस हो लेकिन हम कहते हैं मेरा जन्म जन्म के पहले का जरा भी पता नहीं फिर ये जन्म मेरा कैसे हो सकता है जिस जन्म के पहले मेरे का भी कोई बोध नहीं वो जन्म मेरा कैसे हो सकता है जन्म के बाद मेरा मैं पैदा होता है तो जन्म मेरा कैसे हो सकता है जन्म के बाद मेरे मैं का भाव आता है तो जन्म मेरे मैं के साथ संयुक्त कैसे हो सकता है मेरा जन्म नहीं है ये जीवन का जन्म है और भ्रांति से मैं कहता हूं मेरा जन्म यह अज्ञात के हाथों द्वारा फेंका गया जीवन है ये मेरा जन्म नहीं लेकिन मैं कहता हूं मेरा बचपन मेरी जवानी जैसे जवानी बचपन भी हम लाते हो जवानी बचपन आते हैं जैसे कांच से टकरा के कांच टूट जाता पत्थर से टकरा के जैसे पत्थर फेंका जाता तो आकाश में उठ जाता है ऐसे ही पौधा बो दिया जाए तो बीज अंकुर बन जाता है बीज वृक्ष बन जाता है वृक्ष में फूल आ जाते हैं फल आ जाते हैं ऐसे ही आदमी पैदा होता है बचपन आता है जवानी आती बुढ़ापा आता है तो ये वृक्ष की यात्राएं हैं इसमें मैं के और अहंकार के खड़े होने की कोई भी जगह नहीं है लेकिन ये तो दूर हम तो यहां तक कहते हैं मैं श्वास लेता हूं पागल हो गया है आदमी अगर आप श्वास लेते हैं तब तो आप कभी मर नहीं सकेंगे क्योंकि मौत आ जाएगी और आप श्वास लेते चले जाएंगे तो उसे वापस लाओ जाना पड़ेगा श्वास आप लेते नहीं है श्वास आती है जाती है श्वास लेने वाले नहीं हैं आप आपके बस में नहीं है कि आप श्वास ले लें यह आपका नियंत्रण नहीं है यह आपकी परवस्था है कि आपको श्वास आती है और जाती है और जिस क्षण नहीं आएगी उस दिन आपका कोई बस नहीं है कि आ जाए श्वास चलती है आप चलाते नहीं हैं श्वास चलती है आप चलाते नहीं हैं आप उसके कर्ता और मालिक नहीं सारा जीवन इस छोटी सी भ्रांति पर खड़ा होता है जहां चीजें हो रही हैं वहां हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं बस मैं मजबूत होता चला जाता है मैं खड़ा हो जाता है और भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं हूं पहला भ्रम है कि मैं करता हूं बार बार दोहराने से कि मैं ये करता हूं मैं ये करता हूं मैं ये करता हूं एक भीतर बहन गहरा हो जाता है कि मैं हूं तो अगर मैं हूं के भ्रम को तोड़ना हो तो पहले मैं करता हूं इस भ्रम को विलीन कर दे फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जब मैं करता ही नहीं हूं तो फिर मैं कहा दूर चला जाए तो इगो चली जाती है करता चला जाए तो अहंकार चला जाता है तब आप सागर की छाती पर उठी एक लहर रह जाते हैं तब हवाओं में उड़ती हुई एक पत्ती रह जाती है तब बीज से अंकुरित होते हुए एक अंकुर रह जाते हैं तब आप जीवन के एक श्वास रह जाते हैं तब आप जीवन के एक तरंग रह जाते हैं और उस तरंग के क्षण में उस जीवन के एकात्म के क्षण में उसका अनुभव हो जाता है जिसे मैं परमात्मा कह रहा हूं परमात्मा का द्वार खुला हुआ है लेकिन आप सीमा में घिरे हैं सीमा में घिरी हुई आंखें खुले द्वार को नहीं देख सकती क्योंकि सीमा से घिरी आंखें केवल दीवारों को देखने की आदि परमात्मा का द्वार खुला हुआ है लेकिन आप समय क्षण से घिरे हुए हैं क्षण से जो घिरा हुआ है वो अनंत को नहीं जान सकता क्योंकि क्षण अनंत के प्रति अंधा है एक छोटी सी रेत का कण आंख में गिर जाता है तो फिर पहाड़ भी दिखाई नहीं पड़ता और जब तक क्षण मनुष्य की आंख में पड़ा रहता है तब तक अनंत दिखाई नहीं पड़ता प्रभु का द्वार तो खोला हुआ है लेकिन आप अपने मैं से बंधे हुए हैं जो अपने मैं से बंधा हुआ है वो उस खुले द्वार को नहीं देख सकता नहीं देखना चाह सकता क्योंकि उस द्वार को देखते ही मैं को छोड़ देना पड़ेगा मैं का समर्पण ही प्रभु के द्वार पर चढ़ाई गई एकमात्र पूजा एकमात्र प्रार्थना ये अंतिम तीन सूत्र है इन तीन में तो मुक्त हो जाता है वो प्रभु के अज्ञात सागर में प्रविष्ट हो जाता है एक छोटी सी कहानी और अपनी चर्चा में पूरी कर दूंगा एक अमावस की रात और एक छोटे से गांव में कुछ मित्र एक मधुशाला में गए और शराब पी के बेहोश हो गए फिर उन्हें ख्याल आया नशे में कि चले हम नदी पर और नाव में यात्रा करें फिर वे नदी पर पहुंच गए फिर वे नाव में बैठ गए फिर उन्होंने पतवार उठा लिया और नाव खेनी शुरू कर दी अंधेरी रात नशे में चल पड़े किसी भी तरफ फिर आधी रात थी तब बीत गई रात धीरे धीरे सुबह होने के करीब आ गई ठंडी हवाएं आने लगी उनका नशा उखड़ा अंधेरा कम हुआ सूरज करीब आने लगा छिटके रोशनी आने लगी तो उनमें से एक ने कहा कि हम पता नहीं कितने दूर निकल रात खत्म होने को है मित्रों अब वापस लौट चले न मालूम रात में हमने कितनी यात्रा कर ली किस दिशा में आ गए कहां आ गए कुछ भी पता नहीं है अंधेरे की यात्रा थी बेहोशी की यात्रा थी तो उन्होंने कहा कि तुम ही नीचे उतर कर देख लो घाट के किनारे कि हम कहां आ गए कहां हैं तो हम वापस लौट चले वो आदमी नीचे उतर आओ नीचे उतर के खूब हंसने लगा उसने कहा कि मित्रों तुम भी नीचे उतर आओ वे पूछने लगे कि हंसते क्यों हो उसने कहा तुम भी नीचे उतर आओ एक एक उतरने लगा और वे हंसने लगे फिर सब नीचे उतर आए और सब पागलों की तरह हंसने लगे घाट पकड़े लोग पूछने लगे कि आपको क्या हो गया उन्होंने कहा हम भी बड़े पागल हैं रात भर हमने नाव चलाई लेकिन हम वही के वही खड़े नाव की जंजीर खोलना भूल गए वो जंजीर घाट से ही भूली रात भर पप्पा चलाते रहे और सोचते रहे कि यात्रा कर रहे हैं यात्रा कर सीमा की जंजीर है अहंकार की जंजीर है क्षुद्र की जंजीर है और जिसकी नाव इन जंजीरों से बंधी है वो परमात्मा के अज्ञात सागर में कोई यात्रा नहीं कर सकता है इसके पहले की यात्रा पर निकले घाट की जंजीर को देख लेना कि नाव कहीं बंधी तो नहीं इन तीन दिनों में ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही इन बातों के प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में मेरी कामना और प्रार्थना करता हूं प्रभु का